वही अव्वल भी है और आखिर भी जाहिर भी है और छुपा हुआ भी और वो हर चीज को पूरी तरह जानने वाला है